पदमुई काई अब स्मरण करें कालभूषण जी बता रहे हैं कि अयोध्या में भगवान राम का अवतार हुआ तो उनकी बाल लीला देखने के लिए हम गए वहाँ भगवान के सुंदर स्वरूप को देखा महाराज दशरथ के आंगन में भगवान और चारों भाई सब वहाँ खेलते हैं उनकी बाल क्रीड़ाएं बड़ी मधुर बाल क्रीड़ाएं हैं देख करके बड़ा आनंद रहता है पांच वर्ष तक वहाँ लुप्त होकर के रहते हैं ये सब उन्होंने बताया करके एक बार भगवान का लीला करने लगे कि वो हमको पकड़ने के लिए दौड़े तो हम वहां से भागे उनके हाथ में पकड़े नहीं दिए तब उन्होंने उनके हाथ में मीठा कुआ था वो दिखाया खाने के लिए तो हम उसको लेने के लिए उनके पास दौड़े तो फिर जैसे वो पकड़ने लगे तो फिर भागे इस प्रकार से जो ये खेल उनके साथ हुआ एक बार ऐसा किया उन्होंने कि उनके हमने चरण पकड़ने की कोशिश की तो जब उनके पैरों की तरफ जाने लगे तो वो भाग खड़े हुए <clears throat> इस प्रकार से कभी वो हमसे भागते थे कभी हम उनसे भागते थे इस प्रकार की वह स्थिति थी और कभी कभी पास भी आते थे ये खेल उनके सब साथ साथ जो इस प्रकार के चलते रहे <clears throat> लेकिन एक बार मन में ये आया कि ये भगवान है कि ये बिल्कुल जो है प्राकृत शिशु हैं संसारी मनुष्यों की तरह के हैं ये बस थोड़ी सी बात अपने मन में आई कि ये भगवान है तीन साधारण मनुष्य है बस हो गई बात इतने ही में इतने में क्या हुआ इतना मन आनंद खबराया बस इतनी बात मन में आई थी कि हे गौर क्या हुआ रघुपत प्रेरित जाति माया बस भगवान की माया ने घेर लिया अब यहाँ पर ये माया जो है ये भगवान की प्रेत की हुई माया है उसने घेर लिया सारी व्यक्तियों को तो, तो माया लगती है भगवान लगावे न लगावे माया अपने आप लगी रहती है जीवों के पीछे और <clears throat> जीव को जीव जो है माया तो बड़ा आसान चारा दिखाई देता है घेर लो कोई बात नहीं भूल समझाओ कोई बात नहीं माया तो कोई डर नहीं <clears throat> लेकिन ये माया जो संसारी माया भक्तों को नहीं लगती भक्ति लोग जो है वो इतने सशक्त हैं भगवान की शरण में है उनमें इतना प्रेम है ऐसे भगवान की कृपा उनको प्राप्त है कि ये संसारी माया जो है उनको नहीं लगती संसारी माया का नाम अविद्या माया है वो अविद्या माया जो है वो जीवों को लगती है संसारी जीवों को लगती है सारा संसार में माया लगी हुई सबको तो घेरे हुए लेकिन एक माया और है जिसका वर्णन आगे करते हैं ये विद्या माया है और ये विद्या माया भक्तों को भी कभी कभी लगती है ज्ञानियों को भी लगती है खुशी लगती है उनको ऐसी लगती है कि ये इनको जब जब अपनी भक्ति में रहते हुए भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मन भगवान के में है वो तो ठीक है भगवान उनकी उनके ऊपर कृपा है कोई माया नहीं लेकिन जहाँ उसको लगा कि देखो हम भगवान की इतनी शान में है और ऐसी दुनिया में और लोग नहीं है हाँ, तो अब थोड़ा सा अभिमान अगर भक्ति का भी आ जाए ज्ञान का भी अभिमान आ जाए हाँ, तो बड़ा माया ने घेर लिया अब ये माया जो है जो संसारी माया भक्ति के पास नहीं आ सकती तो ये माया जो भगवान की एक और माया है विद्या माया जिसका जो वर्णन आगे करते हैं कालभूषण फिर भक्तों को वो घेरती है और विद्या माया व्यक्ति को ऐसे बंधन में डालती है कि जीव का विस्तार नहीं होता उसका उद्देश्य जो संसारी अविद्या माया है उसका उद्देश्य जीव को उसका परिणाम कहो उद्देश्य क्या उसका परिणाम ये है कि जीव दुखों में पड़ता है बंधन में पड़ता है लेकिन विद्या माया जो है जब जीव को व्यापती है लगती है किसी भक्त को किसी ज्ञानी को तो उसके मन में जो दंश मात्र संशय आ गया है उससे छुटकारा दिलाना उसका काम है और परिणाम स्वरूप उसे सुख देना है जहाँ अविद्या जहाँ उसका जो है वो अभिमान शंका कुछ भी जो उसके बीच में जरा भी आ गई है होता उससे वो माया विद्या माया नृत्य कर देती है तो विद्या माया भगवान की क्या है वो भगवान की अब पहले ग्रहण कर चुके हैं अन्य काल में भगवान स्वयं बता चुके हैं तेकर वेद समोतिम स्वरूप विद्या पर अविद्या तो अविद्या तो व्यक्ति अज्ञान है जीव का लेकिन विद्या माया क्या है एक रचय जगदोलत जाके गुरु प्रेरित नहीं निजी बता के ये विद्या माया है जिसमें कि वो की रचना करती ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना करने वाली माया है वो विद्या माया है तो फिर भगवान <clears throat> जहाँ उसको विद्या माया में प्रेरित किया तो फिर वो देखने लगता है माया समझता है कि भगवान की कितनी बड़ी माया है कितने ब्रह्मांड है कितने लोकांतर है कितनी विशाल सृष्टि है ये सब उसको दिखाई देते हैं जो वो सब दिखाई दे रहा है मनुष्य तो समझ में आता जितनी भी सात शक्ति और उसका स्वामी परमात्मा जब ये बात समझ में आई उसका सारा विमान ठंडा हो जाता है सारे संसर्ग से दूर हो जाते हैं तो इसमें ये है विद्या माया विद्या माया का अंतर समझ करके इस प्रसंग को देखेंगे सब माया क्या है परमात्मा क्या है सिद्धि भक्ति क्या है यही सब ये राष्ट्र में गोपनीय है शास्त्र की जो बातें हो वो यही है ये समझ इसको में जो आती है तो सुन माया न का ही में और परमात्मा में ऐसा है और इसलिए कहते हैं जो सबके रह ज्ञान एक रस तो जीवन परमात्मा तंत्र अंतर यही समझ लो कि जो जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीवन भेद का कस हाँ? अगर अगर जीव को भी सदा एक समान ज्ञान बना रहे हर समय तो वो तो भाई अखंड ज्ञान तो परमात्मा ही का है ईश्वर का ही है अगर वैसा बना रहे तो फिर जीव में ईश्वर में अंतर क्या है मन जीव में जो हो कुछ न कुछ ज्ञान की कुछ न कुछ भेद बने रहेगा अखंड ज्ञान नहीं रह पाया जीव में ये समस्या होती है इसलिए ये होता है अखंड ज्ञान प्राप्त करने के लिए और अखंड आत्मभाव प्राप्त करने के लिए सारे जीवन साधना करनी पड़ती है भक्त लोग भी निरंतर भगवान का ध्यान चिंतन करते उनकी सेवा में रहते हैं ज्ञानी लोग भी निरंतर आत्म चिंतन करने चिंतन में चित्त को परमात्मा में निरंतर लगाते रहते हैं लगाते रहते लगाते रहते उसे इधर डोले नहीं कहीं हटे नहीं किसी न किसी प्रकार से जब से ध्यान से सत्संग से प्रवचन से श्रवण से किसी न किसी प्रकार से अपने चित्र को परमात्मा में लगाए रखने का सब प्रयास करते हैं क्योंकि जीव को ये सब करना होता है तब परमात्मा भाव की स्थिति उसे प्राप्त होती है तो ये कहते हैं जी ये जीव में सदा ज्ञान नहीं रहता पर अब देखो अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति हो तो पता नहीं लग जाए कि ये ब्रह्म ही एकमात्र सदस्य है और अविद्या माया के उपास से जीव है विद्या माया के उपास से ईश्वर है और तो उपाधियां दोनों को अलग कर दो तो स्वरूप एकमात्र आत्मी तत्व है हम जीव जो करके अपने आप को अनुभव करते हैं हम जीव नहीं पर परमात्मा है उपाधि छोड़ दी तो परमात्मा स्वरूप ही है भौतिक बात लो शास्त्र देख लेकिन ये ज्ञान किसी में जाएगा जब जीव ज्ञान ज्ञाने पर भी ये किसी की ज्ञान की सदा नहीं रहती बस यही जीव का कारण जीवत्व का यही कारण सिद्ध हो जाता है जीवत्व तो है ही तो परमात्मा स्वरूप हो गया कहा जीवत्व है ठीक है परमात्मा स्वरूप तो अपने स्थान पर है लेकिन ये जो फिर भी संसार में प्रवृत्ति है और संसार में प्राप्तियां इत्यादि है देहाभिमान आदि है ज्ञानाभिमान आदि जो उत्पन्न हो जाते हैं ये क्या है फिर हम्म? तो उसका उत्तर यही जीव भाव बनती है माने एक जीव बद्ध जीव में निरंतर एक बद्ध जीव एक मुक्त जीव चले मुक्त जीव सही लेकिन जीव का तो उत्पादन नहीं रही मुक्त जीव परमात्मा न कार्यक्रम लगे ही है जी लगे से याद करने का भाई पहले हम दब गए अब हम मुक्त हो गए परमात्मा ऐसे क्या करता कि पहले हम दब गए हम मुक्त हो गए तो वो कुछ न कुछ तो अंदर किसी न किसी स्तर पर जा करके कुछ न कुछ दबे ही रहता है हाँ? जब तक समस्त प्रारंभ समाप्त न हो जाए और जितने भी उपकरण हैं बुद्धि से लेकर के चित्त बुद्धि मन प्राण शरीर ये सब के साथ इनका तिरोहित न हो जाए ये न हो जाए तब तक तो फिर वो जीव जीव में कुछ न कुछ तो, तो है ही किसी न किसी प्रकार ईश्वर के मैं भेद का तक माया बस जीव अभिमानी और कहते जीव में ईश्वर में दोनों अंतर क्या है कहते माया बस जीव अभिमानी जीव है वो माया के बस में है और उसमें अनुभाव व्यक्ति अहम उसी से अभिमान है अभिमान शब्द बोल दिया अहम की अर्थ में आम है अभिमान है जैसे कि शंकर जी ने बालकांड में कथा का की तब कर दिया हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहम अभिमान जीवन में अहम है और अभिमान है तो वो अभिमान कैसे सूचित कर दिया तो उसमें अहम भी है अभिमान भी है कुछ विशाल भी है और बंधन मुक्ति भी जीव कोई होता है ये सब जीव के घर में तो कहते माया बस जीव अभिमानी ही ये जीव है वो माया के बस में है हम्म। और इस बस माया जो खानी ही लेकिन ईश्वर में परमात्मा जो है वो माया के बस में नहीं है माया उसके बस में हम्म। इस बस से ईश्वर के बस में है माया और गो खानी गो खानी में गो खाती है

माया सब के मन कमल हो गया सर्वत देव स्वस्थ स्वतंत्र ईश्वर अपने स्वतंत्र है स्वस्थ भगवंता तो और जीव अनेक एक और जीव अनेक है और तो वो ईश्वर एक है परमात्मा परमात्मा में चले वो एक ही है जीव अनेक एक अनेकमता मुधा भेद जब कृत माया ये वेदांत की बात कहते हैं कि हालांकि ईश्वर जीव में जो भेद है वो तो माया का भी भेद है माया का मैंने एक माया का दीन है एक माया का स्वामी लेकिन माया धन क्या है माया धन में क्या है तो मिथ्या माया के उपाधि के कारण के भेद में क्या है अगर माया सत्य होती और उसके कारण माया के कारण भेद होता तो दोनों का भेद भी सत्य हो जाता हाँ, तो भेद सत्य नहीं है भेद सत्य नहीं है उसके मन कहते हैं कोई सत्य नहीं है यदि माया करते माया के क्या माया का सत्य नहीं होता हाँ माया का सत्य नहीं होता माया का सत्य मिथ्या तो विधान कृत माया और बिन हरिधाय न कोट हो पाया हालांकि माया कृत है और मिथ्या है तो मिथ्या को तो दूर करना क्या नहीं करती बंद नहीं बोल सकती लेकिन जीव में जहां माया लगी तो माया इतनी मिथ्या माया लेकिन कमल है कि बिना भगवान की कृपा की छूटती नहीं है मैंने देव में इतनी सामर्थ्य नहीं माया की तुलना में जीव की शक्ति जो वो नकल है माया बहुत प्रबल है जीव के सामने कुछ नहीं है अब वो जीव चाहे कि माया से छुटकारा पा करके मुक्त हो जाए तो उसके डर की बात नहीं उसके लिए परमात्मा की कृपा चाहिए अब परमात्मा कैसे कृपा करे अब चाहेंगे तो परमात्मा करे परमात्मा चाहे शास्त्र प्राप्त करा ले चाहे सत्संग प्राप्त करा ले चाहे उसके अनेक जन्मों के करके फिर उसको कहीं गुरु की प्राप्ति करावे कहीं से विचार करने में प्रवृत्त करे चाहे उसके हृदय में कहीं किसी प्रकार का अनुसार करे या अथवा परमात्मा जो है माया से छुड़ाने के लिए जीव का ऑपरेशन करे होगी अब निकाली अब छूटने की कोशिश करता तो जितने हाथ तक पहुंचाता है तो चाल में ऐसा होता है जितना वो उसमें छूटने की करता है चांद में पत्थर चला जाता है उतनी जितना वो मारता है टूटता है तो टीकागढ़ में पत्थर चला जाता है तो चांद को हिरण की टूटने खाने से एक चांद में तो निकल हो जाता है उसमें खत्ता चला जाता है ऐसे कोई व्यक्ति माया से छूटने के लिए कोशिश करे हाथ तक ले तो निकल पाता तैयारी करते हैं तो घर के और जितने भाई बंद करते बच्चे और सब हैं पहले तो खास प्रेम नहीं था चाहे भाई झगड़ा हस्तान करें लेकिन उसके बाद बड़ा प्रेम तो उनका अरे कहाँ जाओगे घर कैसे रहेंगे और फिर कैसे ये होगा कैसे वो होगा पता भी नहीं मैं तो तुम रहोगे फिर निकल करके फिर तैयारी करके नहीं तो जल्दी आ जाएंगे और दो चार घंटे ilgili करने की कोशिश करें तो कहते हैं भगवान की कृपा की जरा माया कहाँ छुट गया तो हो जाएगा तो कहीं ज्ञानियों को माया नहीं भेजती अज्ञानियों को माया भेजती ज्ञानियों को भी माया भेजती अज्ञानियों को तो केवल यही माया भेजती है संसारी माया अपने संसार के वो है और उसको अपने देह का अहंकार है और धन संपत्ति का परिवार का अहंकार है इतनी ही माया है और ज्ञानी व्यक्ति को जब माया मिलेगी तो एक और उसको साधन मिल गया बांधने के लिए कंधा बांध दिया फिर तुम नहीं हो चलो ठीक ज्ञान का सम्मान कर लो तो कोई माया छूटे कि माया बचे ये तो बंधन और बढ़ गया ज्ञान के साथ साथ माया का एक पंजाब कर दिया उन्होंने हम्म, तो ज्ञान एकदम से व्यक्ति को छुटकारी करने मुक्त करने ऐसे नहीं मांगने वाला भी व्यक्ति को अब ज्ञान के साथ जब भगवान की भक्ति हो तब छुटकारा करने वाला वो ज्ञान बने तब उसको तो माया से छुटकारा रखता हो और फिर जब माया से भगवान चलाएगा तो फिर आपत्तियत हो अब ज्ञान के मन में थोड़े की ज्ञान हो गया रोटी तो भी ज्ञान हो गया मेरा और रंग मात्र जी जो है जगह परमात्मा में प्रेम रहेगी ये कोई ज्ञान थोड़ेगा बिना बिना बैठा के बिना परमात्मा की प्रेम के ज्ञान जान गया को बताते हैं ज्ञान क्या है कि ज्ञान मान जाए करुणा ही अब मान अगर अभिमान बढ़ता जाता है तो ये ज्ञान बढ़ा है अगर किसी व्यक्ति ने तमाम वेदांत शास्त्र याद कर लिया रख दिया बोल दिया कह दिया तो इसके कारण से तो उसका जो है समझो कि ज्ञान बढ़ गया बड़ा ज्ञानी हो गया तो ज्ञानी हो गए ये ज्ञानी नहीं होगा अभिमान उसके कारण बढ़ता जा रहा है अभिमान बढ़ने के माने अज्ञानी बढ़ता जा रहा है हम्म, माया में समस्या ये है कि ये दिखाई कुछ देता है होता कुछ है अपने आत्मा परमात्मा में जो प्रेम सहज प्रेम है उसी को उद्घाटित करके यथार्थ बनाओ उसी को सत्य मानो उसी पर स्थित आओ और वही भक्त लगे गए लेकिन वो प्रेम उस प्रकार का अपने अंतरतम में आत्मा में परमात्मा का प्रेम समझ में नहीं आया अथवा बुद्धि में आया नहीं छाया नहीं और व्यक्ति देहानुमान रखकर के ज्ञान को सीखे तो फिर उसका ज्ञान व्यक्त करो वो कारगर नहीं होगा बस इसलिए कहते हैं ज्ञान मन का सुनर प्रसन्न पूछ निशान अब उसकी भक्ति की महिमा को सुनाने के लिए उदाहरण देते हैं कहते के देखो साधन तो बहुत से हैं दुनिया में कर्मयोग है धर्म है कर्मयोग आदि है उपासनाएं नाना प्रकार की है बहुत से देवता है उनकी सबकी पूजा है पाठ है तीर्थ यात्रा है व्रत आदि है ये सब बहुत से साधन है लेकिन कहते हैं राजा का शोरस वही और पारा समुदाय कहते एक राम देखो जैसे एक मन रात्र का समय है और राकापति राकापति में चंद्र मैंने राकापति मैंने पूर्णिमा का चंद्र का राका पूर्णिमा है तो पूर्णिमा का चंद्रमा पूरा पूरा चंद्रमा और सोलह हुई सोलह सोलह चंद्रमा निकलेगा हम्म। और तारा का संभा है तो जिसमें तारा है वो भी चमचमा रहे हैं तो आपका संभव बड़ा प्रकार हो गया इसके बात कहते हैं कि एक काम और करो सकल के दिन का बता ये जितने पहाड़ हैं उनकी सबकी मसाल बना दो हमने आगे का तो मसाल की तरह से पहाड़ करें ताकि आप बड़ी रोशनी हो गई आप बिल्कुल दिन हो गया तो कहते हैं समय मौसम सूर्य के समान प्रकाश हो जाएगा सूर्य का प्रकाश करने दूसरा प्रकाश हो तो रात में इतना प्रकाश होने पर भी दिन नहीं हो जाएगा दिन तो कभी होगा जब सूर्य होगा <clears throat> तो ये और प्रकाश के जितने भी साधन है बस ऐसे प्रकाश के साधन है थोड़ा थोड़ा प्रकाश थोड़ी देर तक थोड़े पास बस रहने वाले ज्यादा स्थायी और ज्यादा प्रकाश करने वाले नहीं इस प्रकार ऐसे करके साधन एकमात्र भक्त ये परमात्मा की है और वो भक्त भी परमात्मा के ज्ञान से ही आती है परमात्मा को जानते हैं समझ में आता है परमात्मा तो उसके प्रति बुद्धि मन बुद्धि समर्पित होते हैं उसमें लगते हैं तभी भक्ति आती है लेकिन भक्ति आती है तभी माया के जाल को छूटते हैं तभी दुखों का निवृत्त होती है तभी ज्ञान प्रकाशित होता अब इस उदाहरण से ऐसा भी पता लगता है कि गणित प्रकाश में आया है कि बिना सूर्य के जैसे रात का मेरा नहीं मिलता ऐसी ही व्यक्ति की जो समस्या ज्ञान की है संसार की है बंधन की है माया की है ये सब रात्र के समान है इससे छुटकारा तभी हो जब परमात्मा का हृदय में प्रकाश हो परमात्मा की कृपा हो वही हृदय में हो तभी ये सब छूटे नहीं तो छूटने वाला नहीं